इस समय कठोपनिषद इसको हम यहाँ पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे उपनिषद का तात्पर्य होता है आध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या इसे एक गुप्त विद्या या रहस्यमय विद्या के नाम से भी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जब वेदों का प्रादुर्भाव हुआ उस समय सीधे वेद ही पठन पाठन में होते थे बाद में मनुष्यों के अल्प सामर्थ्य अल्प पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप फिर ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचनाएं होनी शुरू हो गई जो वेदों को समझने के लिए सहायक ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए समय समय पर ऋषियों ने कई प्रकार के ग्रंथों की रचनाएं की समाज में जिस प्रकार की विचारधाराएं प्रबल हो जाती हैं वो प्रबल विचारधारा यदि सही दिशा में है तो उचित होती हैं उसकी दिशाएं गलत हों तो उसे रोकने के लिए कई सारे ग्रंथों की रचनाएं आवश्यक होती हैं और भौतिक विचारधारा के प्रवाह को रोकने के लिए वेद के जो आध्यात्मिक उपदेश हैं वो समाज में प्रचारित करने के लिए इस प्रकार के ग्रंथ बनाए गए हैं वास्तव में ऋषियों के द्वारा जो भी ग्रंथ हैं वो कोई सीधे लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है ना ही किसी ऋषि ने उसको ग्रंथ के रूप में लिखा है इन सब ग्रंथों को संस्कृत भाषा में कहते हैं कि ये प्रोक्त ग्रंथ हैं प्रोक्त माने होता है पढ़ने पढ़ाने की परंपरा में वो ग्रंथ रहते हैं उपदेश के माध्यम से वो ग्रंथ पढ़े पढ़ाए जाते हैं और बाद में पढ़ने वाले किसी शिष्य के द्वारा छात्र के द्वारा उन उपदेशों का संकलन कर लिया जाता है और वो ग्रंथ के रूप में बाद में प्रसिद्ध हो जाते हैं चूँकि प्राचीन काल के अंदर अपने सीधे नामों का उल्लेख इस प्रकार के पढ़ने पढ़ाने की परंपराओं के लोगों के बीच में नहीं था अपने नाम से वो किसी भी ग्रंथ को लिखते नहीं थे वेदों की अलग अलग शाखाएं प्रसिद्ध हो गई थी शाखाओं का तात्पर्य होता है कि वेद के अनेक विषय हैं एक ही वेद के अनेक विषय हैं और उस अनेक अनेक विषय को पढ़ने वाले भिन्न भिन्न आचार्य लोग हैं जैसे वर्तमान में एक विषय को ले फिजिक्स को ले लेंगे तो जब उच्च शिक्षा के अंदर जाएंगे तो उनकी कई सारी शाखाएं बढ़ जाएंगी तो ऐसे ही वेद के एक वेद के विषय को लेकर के सूक्ष्मता में जब अध्ययन होगा तो कई कई विषयों के अंदर वो बढ़ जाते हैं और वो प्रत्येक विषय अपने आप में एक शाखा के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है उस शाखा के जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं वो किसी एक विशेष आचार्य के नाम से प्रसिद्धि हो जाती है और उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा है कठ शाखा उसके जो पढ़ाने वाले हैं वो कठ आचार्य के नाम से होंगे जो उसके पढ़ने वाले हैं वो कठ अध्येता के नाम से प्रसिद्ध होंगे और उस परंपरा के जो ग्रंथ होंगे उनके साथ में कठ ये शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा तो उस में से एक उपनिषद हमारे पास में है जिसका संबंध यजुर्वेद के साथ में है और उस यजुर्वेद के जो एक शाखा है कट शाखा उसकी एक उपनिषद है कठोपनिषद जिसमें ब्रह्म विद्या आध्यात्म विद्या का उपदेश दिया गया है ये सारे उपनिषदें जो ऋषिदारानंद ने दस की संख्या में मानी है प्रामाणिक उपनिषदें उन उपनिषदों के अंदर आध्यात्मिक विद्या की प्रस्तुति है कहीं किसी कथानक के माध्यम से हैं कहीं पर कोई अलंकारिक वर्णनों के माध्यम से हैं ये सारी उपनिषदें भाव प्रधान हैं आध्यात्मिक भाव इसमें सम्मिलित हैं शब्दों में से भावों को निकालना थोड़ा कठिन काम होता है जब भाव प्रधान चीज़ें लिखी जाती हैं सीधे सीधे अर्थ कई स्थानों पर निकलते भी हैं जहाँ भाव प्रधान लेख होते हैं वहाँ सीधे अर्थ होते भी हैं कहीं नहीं भी होते हैं और जहाँ सीधे सीधे अर्थ नहीं होते हैं वहाँ यदि भाषा का ज्ञान जिसको नहीं होता है वो अपने तरीके से अर्थ निकाल लेते हैं इसलिए उपनिषदों के आधार पर अद्वैत की सिद्धि करना बड़ा सरल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वाक्य मिलेंगे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी इन शब्दों के सीधे अर्थ निकाले जाएं तो अद्वैत मात बड़ा आसानी के साथ में सिद्ध होता है लेकिन भाषा को जानने वाले लोग उसके सही अर्थों को निकाल सकते हैं तो ये एक उपनिषद है सरल से उपनिषद है इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है और हर एक भाग का जो नाम है वो वल्ली है यहाँ हम प्रथम वल्ली को आज से प्रारंभ करेंगे तो हम एक यजुर्वेद से संबंधित उपनिषदों को पढ़ रहे हैं वर्तमान में उपलब्ध उपनिषदें हमारे पास में दस हैं वैदिक परंपरा में और बहुत सारी उपनिषदें रही होंगी समय समय पर कई सारी उपनिषदों की रचनाएं होती रही होंगी लेकिन उनमें से उपलब्ध नहीं है आज जितना भी वैदिक साहित्य उपलब्ध है वो बहुत एक समग्र अंश में नहीं है वो टूटे फूटे अंश में है किसी शाखा की उपनिषद मिलती है किसी शाखा का ब्राह्मण मिलता है किसी शाखा का कुछ मिलता है एक ही शाखा के समग्र ग्रंथ मिलते हो ऐसा नहीं है तो वो उस कड़ी को ऋषि ने रिश्तेदार ने जोड़ने का बड़ा प्रयास किया था इसलिए जितना भी उपलब्ध है हम उसको पढ़ पा रहे हैं लेकिन वो पूरा एक कड़ी के रूप में मिलता हो ऐसा नहीं है जितने ग्रंथ हैं वो अपने आप में तो पूर्ण है कठोपनिषद अपने आप में पूर्ण है लेकिन कठ शाखा के और कोई ग्रंथ नहीं मिलते उस उपनिषद के अलावा ऐसे ही किसी शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं किसी शाखा का कुछ और मिलता है तो ये जो उपनिषद है जिसमें एक इतिहास भी हो सकता है कथानक भी हो सकता है यम और नचिकेता इन दो की चर्चाएं हैं हो सकता है कि ये काल्पनिक पात्र हो और हो सकता है कि ये वास्तव में कोई इतिहास भी रहा हो लेकिन उन दोनों की चर्चाओं के माध्यम से एक बड़े ही रुचिपूर्वक तरीके से एक आध्यात्मिक विद्या को यहाँ पर दिया गया है उस वैदिक समय में प्राचीन समय में आध्यात्म विद्या बहुत सुलभ नहीं होती थी जैसे आजकल शिविरों के माध्यम से और बहुत प्रकार के माध्यमों से आध्यात्मिक विद्या को अपनी तरफ से प्रचारित करने का प्रयास होता है पहले ऐसा नहीं था आध्यात्म विद्या के लिए उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बड़ा तप और परिश्रम करना होता था कहीं पर भी किसी भी आचार्य के पास जाना हो जो ब्रह्म विद्या को जानने वाला है उसके आश्रम में जाना हो तो अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं उपनिषदों के अंदर कि बड़ी कठोर परीक्षाएं होती थी छः महीना साल भर दो साल देखा जाता था ये व्यक्ति उस योग्य है कि नहीं है और बड़ी कठिनाई से ये ब्रह्म विद्या जानने को सुनने को मिलती थी आज हमारा सौभाग्य है कि ये बड़ी सुलभ है और अपनी सुविधा के अनुकूल ये चीज़ें उपलब्ध हैं लेकिन मैं समझता हूँ जब कठिनाई से कोई चीज़ उपलब्ध होती है तो उसकी कीमत और उसका महत्व भी अपना अलग होता है आज बड़े बड़े कॉलेज के अंदर जो बड़ी कठिनाई से जहाँ प्रवेश मिलते हों उसका अपना महत्व भी अलग होता है और वहाँ पर जाने वाले लोग भी उस विद्या का जो महत्व है वो अच्छे प्रकार समझते हैं तो ब्रह्म विद्या के लिए यदि वैसा ही तप किया जाए त्याग किया जाए पुरुषार्थ और परिश्रम किया जाए तो उस विद्या का महत्व अपने आप में बहुत बढ़ जाता है और व्यक्ति फिर उसके महत्व को अपने आप समझने भी लगता है कि इस चीज़ की आवश्यकता मेरे जीवन के अंदर कितनी है और कितना मुझे उसका अनुकरण करना चाहिए कितना उसको लेकर के चलना चाहिए तो त्याग वो तप उस विद्या के साथ में एक अनिवार्य अंग हुआ करते थे और उपनिषदों में इस बात का बहुत जगह उल्लेख आया हुआ है यदि वो व्यक्ति इस प्रकार का तप नहीं करता है तो उसके लिए विद्या भी कोई फलदायी नहीं होगी योग दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा जहाँ लिखा है न अतपस्वी न योगा सिद्ध्यति तो तप वो त्याग इस विद्या का एक अनिवार्य अंग है वो करना ही है और जब तक वो किया नहीं जाएगा वो विद्या आएगी ही नहीं ब्रह्म विद्या केवल सुनने सुनाने का नाम नहीं है कि किसी ने बोल दिया मैंने सुन लिया उतना ही केवल मात्र ब्रह्म विद्या नहीं है उतना ही केवल उपनिषद विद्या नहीं है वो कितना व्यक्ति उसको समस्या है कितना चिंतन करता है कितना स्वीकार करता है जीवन के अंदर कितना उस पर चलने का प्रयास करता है ये हर व्यक्ति के अपने संस्कार हैं उसकी बुद्धि है उसका परिश्रम है उसका त्याग है और जितना वो अपनी तरफ से प्रयास करेगा उतना उपलब्धियाँ होंगी उतना जीवन के अंदर प्राप्तियाँ होंगी उतना दुखों की निवृत्ति होंगी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उस ब्रह्म विद्या की कि दुखों की निवृत्ति होगी ब्रह्म विद्या का मतलब ही पहले होता था व्यवहारिक विद्या और इसमें जो एक प्रस्तुति है इस कठोपनिषद के अंदर उससे भी ये बात बड़ी स्पष्ट होती है कि कितना परीक्षा पूर्वक ये ब्रह्म विद्या को दिया जाता था और परीक्षा में यदि लगा कि ये व्यक्ति वास्तव में इसके योग्य है तभी वो विद्याएं दी जाती थी अन्यथा दी ही नहीं जाती थी ऐसे में वो विद्या सुरक्षित भी रहती हैं जब विद्या बिना पात्र पात्र के प्रचारित कर दी जाती है तो विद्या समय के साथ अपने आप खत्म हो जाती है क्योंकि वो व्यवहार में नहीं होती है और व्यवहारिक विद्या का नाम ही विद्या होता है शाब्दिक विद्या पुस्तकों की विद्या वो कोई विद्या नहीं होती है वो तो शब्द मात्र हैं इसमें जो लिखे हैं वो केवल शब्द हैं विद्या तो वो है जो मेरे व्यवहार में है तो उस व्यवहारिक स्तर तक हमको जाना है वहाँ पहुँचना है उसके लिए इन शब्दों के माध्यम से हम जो भाव है उसको समझने का प्रयास करते आइए इसके प्रथम वल्ली को हम प्रारंभ करेंगे श्लोक जो इसमें लिखे हैं उसका हम उच्चारण कर लें पहला श्लोक है उषण ह वै वाजश्रवस सर्वेद ददौ तस् ह नचिकेता नाम पुत्र आस पिता और पुत्र को लेकर के ये बात यहाँ प्रारंभ की जा रही है वाज शवस नाम का एक व्यक्ति है जो पिता की भूमिका में है और उसने एक यज्ञ किया जिसका नाम है सर्ववेदस सर्ववेदस नाम का यज्ञ वो होता है जहाँ पर अपना सब कुछ दान कर दिया जाता है उसका प्रयोजन क्या है कि अब सन्यास की ओर जाना है और सन्यास की ओर जाना है तो मेरे पास अपना कुछ नहीं रहना चाहिए यानी दो प्रकार से त्याग होता है एक बाह्य भौतिक रूप से त्याग कर दिया जाता है और दूसरा फिर भीतर का त्याग होता है भीतर का त्याग यानी स्व स्वामी संबंध का त्याग ममत्व का त्याग आसक्ति का त्याग वो भीतर से होता है लेकिन उस भीतर के भावों तक जाने के लिए सबसे पहले बाह्य त्याग की आवश्यकता है मैंने अपना पेन उठाकर किसी को दे दिया तो बाहर से तो दिया लेकिन उसके साथ साथ में मैंने अपना ममत्व भी छोड़ दिया आसक्ति भी छोड़ दी ये कोई आवश्यक नहीं है जब भी उस व्यक्ति के पास में पेन दिखेगा तो मुझे याद आएगा ये मेरा है तो इसका मतलब वो भीतर का त्याग नहीं है क्योंकि भीतर का त्याग होता तो उसको स्मृति नहीं आती कि ये मेरा है वो मेरा की जो स्मृति है वो इस बात को इंगित करती है कि अभी भीतर का त्याग नहीं हुआ है तो यहाँ उसी प्रकार की बातों को उठा करके प्रारंभ किया गया है कि सर्व वेदस नाम का यज्ञ किया और उसके पास जो कुछ था वो दूसरों को दे रहा था और उसका एक पुत्र है जिसका नाम है नचिकेता तो उस नचिकेता को लेकर के ही आगे मुख्य बात प्रारंभ की जाएगी तब तो वो जो वाजश्रवस है वो किस प्रकार से दान कर रहा है और नचिकेता की प्रतिक्रिया क्या है उस दान को लेकर के आइए अगले श्लोक में पढ़ते हैं कहते हैं तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेक सो अमन्यत कहते हैं कि अब जो सर्व वेदस नाम का यज्ञ हो रहा है यज्ञों के अनेक प्रकार के स्वरूप होते हैं उसके उद्देश्यों को लेकर के हम जो यज्ञ करते हैं वो उसका नाम शास्त्र में अग्निहोत्र होता है ऐसे बहुत सारे यज्ञों के विभिन्न स्वरूप हैं और उसमें से एक है सर्व वेदस नाम का यज्ञ किसका मोबाइल बज रहा है तो अब कहते हैं कि वो कुमार हैं यानी नचिकेता की अवस्था बता रहे हैं अवस्था के आधार पे कह रहे हैं अलग अलग अवस्थाएं हमारी होती है पहले बाल्यकाल होता है उसके बाद जो अवस्था आती है वो कुमार अवस्था होती है फिर यौवन अवस्था होती है तो अभी बाल्यकाल के बाद में अगली अवस्था 15-16 साल का व्यक्ति है वो अपनी कुमार अवस्था में है युवा भी नहीं हुआ है तो कुमार अवस्था वाले व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं यदि वो अपनी आवश्यकता से अधिक समझ रखता हो तो हम क्या कहते हैं कि इतना छोटा सा है और इतनी बड़ी बात कह रहा है तो क्योंकि उस अवस्था के सामान्यतः ये अपेक्षा नहीं रखी जाती कि इतनी बड़ी सोच वो रख सकता है तो उसकी जो उत्तम मेधा है उसकी जो एक सोचने समझने की बड़ी शक्ति है समझ है विवेक है उसके पास में उसको इस श्लोक में संकेत कर रहे हैं और ये शब्द कहते हैं तम कुमारम संत कह रहे कुमार हैं और कुमार होता हुआ भी क्या है दक्षिणासु नियमानासु करें वो सर्ववेदस नाम का यज्ञ कर रहा है उसका पिता जिसका नाम वाजश्रवस है और वो दक्षिणा को देख रहा है नचिकेता कि ये दक्षिणा में क्या दे रहा है और कहते हैं जो दक्षिणा में चीज दी जा रही है उसको देख करके श्रद्धा उसने विचार किया कि ये क्या दिया जा रहा है कि यदि मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और वो इस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ करके जाना है लेकिन जब सब कुछ छोड़ करके जाना है तो वो दे क्या रहे हैं दान तो दे रहे हैं त्याग भी कर रहे हैं लेकिन वास्तव में थोड़ा सूक्ष्मता के साथ में अवलोकन करेंगे तो वो जो दी जाने वाली चीज़ें हैं वो क्या है सामान्यतः बाहर से दिख रहा है कि चीज़ दी जा रही है लेकिन दी जाने वाली चीज़ें किस प्रकार की हैं वो व्यक्ति की जो एक वृत्ति है उसके संस्कार है उसका स्वभाव है उसकी जो सोच है वो वहाँ पर दिखती है वो दी जाने वाली चीज़ों के अंदर क्योंकि दान में जैसे मैंने बताया दो चीज़ें होती हैं एक भीतर का त्याग होता है और एक बाह्य क्रिया होती है बाहर का त्याग होता है तो बाह्य क्रिया उसके आंतरिक क्रिया को बताती है सत्याग प्रकाश में आपने पढ़ा होगा यद मनसा मनुते तद वाचा वदती यद वाचा वदती तत् कर्मणा करोती यानी व्यक्ति के मन में जो होता है वो वाणी से कहता है जो वाणी से कहता है वो शरीर से करता है तो जो कुछ शरीर से वो कर रहा है वो सबका प्रारंभ कहाँ से वो मन से ही है इसलिए यदि ठीक करना है तो उस मन को जाकर के ठीक करना है और ब्रह्म विद्या के माध्यम से यही होता है कि हम अपने मन को ठीक करते हैं बाह्य क्रियाओं के आधार पर मन तक कि संस्कारों की सोच रखना ये सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है बाह्य क्रियाओं को सूक्ष्मता के साथ जब देखा जाएगा तब हम व्यक्ति के मनोगत भाव को समझ सकते हैं और व्यक्ति के मनोगत भाव को जान लेना उसी पर यहाँ पर एक आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि वो उसका पिता है और पिता होता हुआ व्यक्ति वो वहाँ पर सोच रहा है कि क्या दे रहा है क्योंकि पिता के द्वारा यदि कोई चीज़ दी जा रही तो उस पर सामान्यतः व्यक्ति वो सोचेगा नहीं कि ये ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा है और यदि घर की चीज़ जा रही है और बेकार की चीज़ें जा रही हैं तो घर का कोई व्यक्ति टोकेगा भी नहीं और सोचेगा ठीक है बेकार की चीज़ जा रही तो जाने तो अच्छा है लेकिन दान में यदि बेकार की चीज़ें नहीं जा करके श्रेष्ठ चीज़ें जा रही हैं तो हो सकता है कोई टोक भी दे कि ऐसी इतनी अच्छी चीज़ें उठा के वो दान कर रहे हो लेकिन ख़राब चीज़ें दान कर रहा है तो कोई शायद बोलने वाला कम होगा कि ख़राब चीज़ें आप क्यों दान कर रहे हैं तो इसलिए वो कुमार हैं और ये पात्रता सबसे पहले दिखाई जा रही है कि एक ब्रह्म विद्या के लिए किस प्रकार की पात्रताएं होनी चाहिए संबंधों से ऊंचा उठ करके व्यक्ति धर्म के विषय में सोचने की क्षमता रखता है ये सबसे बड़ी पात्रता है व्यक्ति की कि संबंध भी उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है वो पिता पुत्र के संबंध भी उसके लिए बहुत मायने नहीं रखते हैं उसके लिए धर्म महत्वपूर्ण है कि धर्म सही किया जाना चाहिए उचित क्रियाएं की जानी चाहिए यदि उचित क्रियाएं नहीं की जा रही हैं तो वो अपने पिता को भी बोलने का सामर्थ्य रखता है वो सोचने का सामर्थ्य रखता है इतनी बड़ी कुशलता उसके अंदर है इतनी बड़ी क्षमता उसके अंदर है और उसकी अवस्था के अनुरूप वो चीज़ें अपेक्षा नहीं हो सकती है उसकी अवस्था से बहुत जाकर के बड़ी चीज़ है तो वो एक समझने की बात है वो एक ब्रह्म विद्या के पात्रता को समझने की सबसे पहले बात है इसलिए ब्रह्म विद्या का उपदेश बाद में किया गया है आरंभ में पूरा नचिकेता के अंदर जो पात्रताएं हैं उसको बताया गया है कितना क्षमता उस व्यक्ति के अंदर कितनी कुशलता उस व्यक्ति के अंदर और उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता है जो व्यक्ति ब्रह्म विद्या को पाना चाहता है उस ब्रह्म विद्या में सफल होना चाहता है उसको जीवन में अपनाना चाहता है प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए ये आरंभ किया गया कि महत्वपूर्ण संबंध नहीं होने चाहिए महत्वपूर्ण धर्म होना चाहिए महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होना चाहिए महत्वपूर्ण शास्त्र होने चाहिए कि शास्त्र किस बात को करने के लिए कहता है वो महत्वपूर्ण है उसको करने वाला कौन है उसके विपरीत जाने वाला कौन है वो कोई भी हो चाहे पिता भी क्यों ना हो उसको भी उचित मानना ये मापदंड नहीं होना चाहिए कि चूंकि मेरा पिता है इसलिए वो ठीक है ये मापदंड यदि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले के भीतर है तो पक्षपात से कभी रहित नहीं हो सकता है और पक्षपात से रहित व्यक्ति कभी ब्रह्म विद्या प्राप्ति का अधिकारी ही नहीं हो सकता है इसलिए हर प्रकार के पक्षपातों से व्यक्ति को ऊपर उठना होगा आप सत्याग्रह प्रकाश के अंदर पढ़ेंगे तो धर्म की व्याख्या में ऋषि ने हर जगह पर एक बात लिखी है जो पक्षपात रहित न्याय का आचरण करे वो धार्मिक है तो ये धर्म की एक धार्मिक होने की एक कसौटी है कि पक्षपात रहित व्यक्ति रहित व्यक्ति के संबंधों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति वो विद्या के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकता है इसलिए कहा तम कुमारम संतम कह रहे कुमार है लेकिन नियमानासु दक्षिणासु कह रहे जो दक्षिणाएं दी जा रही हैं उसमें श्रद्धा उसका व्यक्ति विचार कर रहा है विवेक कर रहा है ये ठीक है कि नहीं है ऐसा करना मेरे पिता को उचित है कि नहीं है और वो क्या देखता है दक्षिणा के अंदर क्या चीज़ दी जा रही है तो उसके बारे में अगला श्लोक है कहते हैं पीत उदका जग्ध तृणा दुग्ध तोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास तान स गच्छति ता ददत अब वो विचार कर रहा है उसने विचार करना प्रारंभ किया देखा अवलोकन किया अब जो चीज़ दी जा रही है आप जो भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो भी ग्रंथ हमको पीछे के उपलब्ध होते हैं शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें दान की यदि कहीं भी आपको बात दिखेगी तो उन सब के अंदर गौदान की ही बात दिखेगी अधिकांशतः अन्य दान भी उल्लेख है लेकिन इसका प्रायः उल्लेख मिलेगा तो अब किस प्रकार की गौ दान में दी जा रही है तो सबसे पहली बात कहीं पीत उदका कि जिसका दुग्ध पी लिया गया है बछड़ों के द्वारा जिसका दुग्ध पी लिया गया है अब दुग्ध पिलाने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है इन्हें वृद्ध हो चुकी हैं अब वो दूध को उत्पन्न नहीं कर सकती जितना सामर्थ्य था उसने दूध पिला दिया अब वो इस योग्य नहीं है कहा जगध तृणाह कि उसने खा लिया तृण खा लिया मतलब जितना अपने शरीर को बढ़ाने के लिए खा सकती थी पचा सकती थी अब उसकी वो अवस्था निकल गई कि बहुत खा करके बहुत पचा लेंगे ऐसी अवस्था नहीं रही खाने का बहुत सामर्थ्य अब नहीं रहा कहते हैं दुग्ध दोहा उसका दुग्ध दूध जो है वो दोह लिया गया अब वो दूध देने में समर्थ नहीं है निरिंद्रिया कि अब बछड़े उत्पन्न करने की जो उत्पादक क्षमता है वो भी उसके अंदर नहीं है प्रजनन की क्षमताएं समाप्त हो चुकी हैं ये चारों विशेषण दिए और इन चारों विशेषणों से समझ में आता है कि वो अब वृद्ध हो चुकी है एक विशेषण नहीं कहा क्योंकि यदि कहते कि अब खाने में समर्थ नहीं तो हो सकता है तत्काल कोई रोग लग गया हो और रोग हट जाने पर खा पी लेगी फिर उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ दिया गया निरिंद्रिया की प्रजनन की क्षमता खत्म हो चुकी है तो अब बिल्कुल वृद्ध है और वो किसी व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं है कि और स्वयं के लिए हितकारी नहीं है लाभकारी नहीं है तो ऐसी गौओं को जब दान में दिया जाएगा तो वो दान देने के योग्य नहीं है और जिसको दिया जाएगा उसके लिए वो एक समस्या ही है वो किसी प्रकार से लाभ को पहुंचाने वाली नहीं है तो उसने विचार किया कि ये किस प्रकार की गौवें दी जा रही हैं यह उचित नहीं है और उसने विचार किया कि ये कर्म है और ये कर्म कैसा है ये शास्त्रीय कर्म नहीं है शास्त्रीय माने इसका उल्लेख शास्त्रों के अंदर नहीं है निंदित है ये और ऐसा कर्म करने से क्या होगा कह रहे अनंदा नाम ते लोका अनंदा माने आनंद रहित सुख रहित जो लोक हैं ऐसे स्थान हैं उसकी क्या होगी तांस गच्छति उसको प्राप्त करेगा कौन मेरा पिता अपने पिता के विषय विचार कर रहे हैं कि मेरे पिता ऐसा दान कर रहे हैं तो उस कर्म के बदले उनको क्या मिलेगा कह रहे उस कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा उनको दुख मिलेगा वो ऐसे लोक में जाएंगे ऐसे कर्म का फल प्राप्त करेंगे जिसका दुख फल है उनको सुख मिलने वाला नहीं है उनको यश मिलने वाला नहीं है तो कहते हैं ताह ददत जो ऐसी गौवों का दान करेगा वो दुख को प्राप्त करेगा और यहाँ पर कौन है ऐसा दान करने वाला करे यहाँ पर तो ऐसा दान करने वाला मेरा पिता ही है और मेरे पिता के द्वारा ये निंदित कर्म किया जा रहा है दान दो प्रकार से निंदित होता है एक जो वस्तुएं दी जा रही हैं वो अनुपयोगी होती हैं दूसरा वस्तु तो उपयोगी है लेकिन मन के अंदर स्वस्वामी संबंध के त्याग की भावना नहीं है ममत्व जुड़ा हुआ है उस दान का कुछ लौकिक फल की इच्छा है अधिकार की भावना बनी हुई है तो जहां अधिकार की भावना बनी है चीज़ें भले अच्छी दी जा रही हों उस दान का प्रतिफल चाहिए उस दान के बदले को चाहिए कुछ शर्तें जुड़ी हुई दान के अंदर वो दान श्रेष्ठ दान की कोटि में नहीं आता है तो यहाँ पर न तो उसकी वृत्ति ठीक है क्योंकि जब व्यक्ति गलत चीज़ों का दान कर रहा है निंदित चीज़ों का दान कर रहा है तो मन की वृत्ति तो है ही अच्छी नहीं अब देखिए जिस पिता की ऐसी वृत्ति है उसका पुत्र कितना श्रेष्ठ विचारों वाला है तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है कि पिता के विचार श्रेष्ठ ना हो तो पुत्र के अंदर भी वो श्रेष्ठता नहीं होगी ऐसा नहीं है और जबकि उसकी अवस्था बहुत बड़ी नहीं है लेकिन वारंभ से एक उत्तम संस्कारों वाला है और वो अपने पिता से बहुत आगे है उन विचारों की तुलना करें तो उसका पिता निंदित कर्म कर रहा है और यज्ञ कर रहा है वो कर्म भी कैसा कर रहा है सर्व नाम का यज्ञ किया उसने और उस यज्ञ के अंत में दक्षिणा देने का विधान है तो यज्ञ तो कर दिया लेकिन जब दक्षिणा देने की बारी आई तो वो दे क्या रहा है यानी ये एक जो आडंबर है उस आडंबर से जुड़े हुए व्यक्ति पात्र नहीं है और उन आडंबरों से अलग जो हो गए हैं व्यक्ति वो वास्तव में उस ब्रह्म विद्या के प्राप्त के अधिकारी हैं तो केवल मात्र बाह्य कर्मकांड बाह्य क्रियाकलाप उनसे कुछ प्राप्ति नहीं होती है जहाँ कहते भी कि स्वर्ग कामो यजेत वो केवल मात्र बाह्य कर्मकांड से कोई यज्ञ से उसका कोई स्वर्ग फल नहीं हो सकता है यज्ञ इन्होंने भी किया सर्व वेदस्ताम का यज्ञ किया लेकिन फल क्या है उसका उसका फल दुख है उसका फल सुख नहीं है वहाँ सर्व स्वर्ग कामो यजित की बात ही नहीं है कि हर एक यज्ञ स्वर्ग को दिलाएगा ऐसा नहीं है यज्ञ के भाव क्या हैं यज्ञ के बाद में परिवर्तन क्या आया विचारों के अंदर यज्ञ के बाद में फिर क्या त्याग की भावना उत्पन्न हुई कितना ही इधन न मामा इधन न मामा व्यक्ति बोल रहा है लेकिन वास्तव में उससे त्याग क्या पैदा हुआ है भीतर और स्वर कामो यजेत यज्ञ से स्वर्ग मिलता है वो बात अपनी जगह पर ठीक है लेकिन ये यज्ञ ही नहीं है ये यज्ञ करने वाले व्यक्ति के अंदर पवित्रता ही नहीं है और वही यहां पर बताया जा रहा है कि केवल मात्र बाह्य कर्मकांड से कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है वहां दुख ही मिलने वाला है तो उस फल की ओर भी संकेत ये हमको श्लोक करता है तो एक तरफ अपात्र व्यक्ति है ब्रह्म विद्या का अनधिकारी व्यक्ति है और दूसरी तरफ एक पात्रता को दिखाया जा रहा है कि ये पात्र व्यक्ति हैं तो अपात्र के लक्षण क्या है आडंबर है मन और शरीर से वाणी से वो एक नहीं है उसके मन में कुछ है वो लोक में दिखाने का कुछ और प्रयास कर रहा है वो यज्ञ भी भले ही कर रहा है लेकिन मन मनोगत भाव के अंदर पवित्रताएं नहीं है वो आडंबर वाला व्यक्ति है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है उसको दुख ही मिलेगा भले यज्ञ करता हो दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो पात्र है वो भले अवस्था में छोटा है उसकी बुद्धि के अंदर पवित्रता है उसके लिए धर्म महत्वपूर्ण है उसके लिए शास्त्र महत्वपूर्ण है उसके लिए ईश्वर की जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है जो उसने सुना है उसके आधार पर वो निश्चय कर रहा है संबंध उसके उस विचार में बाधक नहीं है और पक्षपात रहित होकर के विचार करने का सामर्थ्य उसके पास में है और न केवल विचार करने का सामर्थ्य है बल्कि अपने पिता को कहने का भी सामर्थ्य उसके पास में है वो कह रहा है कि क्या कर रहे हैं आप ये कैसे कर रहे हैं ये ऐसी चीज़ें क्यों दान दे रहे हैं इससे क्या मिलेगा वो कहने का सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य को अगले श्लोक में कहा है कहते हैं स हवाच पितरम तत कस्म मां द्वितीय तृतीय तम ह उवाच मृत्यवे त्वा ददामी इति तो उसके पास साहस भी है निर्भीकता उसके पास में क्या कहता है स ह उवाच पितरम कह रहे अपने पिता को उसने कहा उवाच माने कहा उसने क्या कहा तथा कस्मई माम दास्यति कह रहे सबको देना है ना आपको सर्ववेदस यज्ञ कर रहे हैं सब कुछ दे देना है तो मुझे भी तो किसी को दे ही दोगे जब इस प्रकार की गौवे दे रहे हैं तो उधाना दे रहा है वो सीधा उस बात को ना कहे के क्योंकि वो तो दिख ही रहा है कैसा दे रहा है तो उल्हाना दे रहा है कि जब ये चीज़ें आप दे सकते हैं जो निंदित है अनुपयोगी है बेकार है ये चीज़ें आप दे रहे हैं तो कह रहे मुझे किसको दे दोगे तो पिता ने सोचा बालक है उसके बाद की उपेक्षा कर दी तो कह द्वितीयम तृतीयम तम हाँ उवाच दूसरी बार बोला दूसरी बार भी नहीं सुना तीसरी बार बोला तो उसको आवेग आ गया उसके पिता को कहा मृत्यवे त्वा दास्यसी दास्यामी कह रहे मृत्यु को दूंगा अब एक आचार्य का नाम यहाँ पर कहा गया यमाचार्य मृत्यु को भी यम कहते हैं तो उसने कह दिया कि मैं तुमको मृत्यु को दूंगा यमाचार्य को दे दूंगा तो यहाँ पर उस बालक की जो एक निर्भीकता है उसके एक और विशिष्ट गुण को यहाँ बताया जा रहा है कि उसने सोचा विचार किया इतना भी कई लोग कर लेते हैं कि सोच भी लेते हैं विचार भी कर लेते हैं लेकिन उस व्यक्ति को कहने का सामर्थ्य जो उसका पिता है और उसकी अवस्था है कि वो कुमार हैं वो सत्य तक विचार कर लिया और सत्य को कहने का अपने पिता को कहने का सामर्थ्य उसके पास में है तो ये एक विशिष्ट गुण है बार बार सत्य बोलने की बात हम लोग योग शिविर में सुनते हैं तो वो चीज़ें व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी हैं ये सत्य बोलने की जो एक निर्भीकता है एक साहस है वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ईश्वर पर विश्वास होता है और इसको परिणामों की बहुत चिंताएं नहीं होती हैं कि पिता क्या बोल देगा क्या कर देगा क्या उसके परिणाम आएंगे क्या उसके दुष्परिणाम आएंगे उन बातों को बहुत विचार न करके जो किया जाना चाहिए वो करना है मुझे ये पिता गलत कर रहा है तो मुझे इसको कहना है इसको बोलना है मुझे तो धर्म तो है ही लेकिन साथ साथ में वो विशिष्टताएं उसके अंदर है इसलिए उसने बार बार कहा पिता को टोका उल्हाना दी वो निंदित कर में उस बात की ओर संकेत किया और उसके पिता भी समझ गए कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और उसी बात की ओर ये कह रहा है और दूसरे रूप में कह रहा है कि मुझे किसको देंगे तो अब यहाँ से एक पात्र अपात्र व्यक्ति के कुछ भेद उत्पन्न करने के बाद में आगे फिर संवाद आरंभ होंगे और अब चर्चाएं आगे गुरु शिष्य को लेकर चलेगी बहुत प्रकार की और परीक्षाएं की जाएंगी और आरंभ में उस ब्रह्म विद्या के लिए किस प्रकार से परीक्षाएं की जाती रही हैं और कैसा वो व्यक्ति होना चाहिए जो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी हो वो यहाँ से हमको संकेत मिलेगा आगे और पढ़ेंगे आज समय हमारा समाप्त हुआ है यही विराम देंगे आइए ओम का उच्चारण तीन बार करें ओम